हाँ। हाँ, तो मैं सबको परिचय दे रहा हूँ कवर फुली विद 1.5 तो मूलतः से आयरलैंड से है और अठारह साल की उम्र से इसकोन से जुड़े हैं और प्रैक्टिकली भारत के सभी कंटिनेंट जो है हाँ, बांग्लादेश भारत यूएस अमेरिका मतलब अमेरिका है यूरोप है रशिया करते हैं हिंदी भाषा में भी प्रवचन उनके चैनल पर टेलीकास्ट होते हैं और उन्होंने एक दर्जन से भी अधिक भारतीय संस्कृति के ऊपर कृष्ण भक्ति के ऊपर ग्रंथ लिखे हैं और ये काफी सारी बुक्स यहाँ हैं ये सब महाराष्ट्र द्वारा और बुक्स हैं उपाध्य उपाधि की बुक्स हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण की जो संस्कृति है उसका प्रचार है दुनिया भर में महाराष्ट्र करते हैं और फिर महमद प्रभु हैं जो मध्य प्रदेश के इस्कॉन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और इंदौर टेम्पल के प्रेसिडेंट भी हैं और पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश मतलब इस्कॉन के जो मैनेजमेंट के जनरल सेक्रेटरी हैं और वो भी यहाँ पर उपस्थित है और गोविंद प्रभु है वो क्रोएशिया से है वो भी हिंदी में प्रवचन करते हैं महाराज के No one ever heard of Slovenia. और- They don't have any tennis players. So, हाँ। like और Croatia did. जगन्नाथ प्रभु है जगन्नाथ दास प्रभु Gokul Chandra- तो वो यहाँ के Gokul Chandra told me that जो यहाँ people in भोपाल का है India तो know इनके about मैनेजर है Croatia because they have some good tennis players. Okay you can start now Ajay थोड़े से पूरा स्पीक इन हिंदी यस सब हिंदी बोलते हैं। <laughs> हिंदी बोलना बहुत इजी है इंग्लिश बोलना और बीच बीच कुछ ऐसे आज मॉडर्न हिंदी ऐसी होती है एब्सोल्युटली राइट आप सही बोलते हैं ऐसे हिंदी होती है बताएं जगन्नाथ यात्रा कब निकाली है कहाँ से निकाली है इसका मेन मोटिव क्या है main motive main motive main motive, देखे इंग्लिश हिंदी सब मेन मोटिव बहुत है मुख्य उद्देश्य उद्देश्य या उद्देश्य सब काम जो हम करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप यहाँ आए हैं क्योंकि आप पत्रकार है आप यहाँ आए पैसा कमाने के लिए वो पैसे कमाने उसका क्या उद्देश्य है आप आप नारी है नहीं आप सन्यासी नहीं है उस संसार चलाने के लिए उसका उद्देश्य क्या है मूल उद्देश्य क्या है आनंद सब प्राणी सब कुछ जो करते हैं तो आनंद के लिए ही करते हैं लेकिन इस भौतिक जगत में हम नहीं जानते हैं कि वास्तविक आनंद है आध्यात्मिक सचित आनंद जो भगवान के साथ होते भगवान की सेवा में होते जिसका नाम है भक्ति तो इस महोत्सव का उद्देश्य है आनंद और इसमें से भगवान जगन्नाथ जो कृष्ण है जो भगवत गीता में सबको कहते तो कैसे वास्तविक पूर्ण आनंद प्राप्त होते इनकी सेवा में तो वो प्रचार अलग ढंग से भगवत गीता का प्रचार होता है कि सबका भगवान की सेवा करना चाहिए और इस भौतिक संसार में वो सब कुछ जो आनंद का नाम में चलते वो सब कुछ बेकार है अलग ढंग से भगवत गीता का प्रचार आनंद एक शब्द में आनंद आनंद की प्राप्ति के लिए जो हाँ आनंद की आप जो तो आप वहाँ जाए और आप कुछ राशि कीजिए और हरे कृष्णा हरे कृष्णा कीर्तन कीजिए आप स्वयं अनुभव करेंगे तो कैसे आनंद होते तो एक मिनट इसके बारे में बोलता हूँ कि गीता में भगवान कृष्ण इस भक्ति धाम के बारे में कहते हैं प्रत्यक्ष गमन धाम्यम सुसुखम कर अव्ययम प्रत्यक्ष हम स्वयं अनुभव कर सकते कैसे सुसुख परम सुख होते हैं भक्ति में तो अनुभव की बात है हम इतना सब बोल सकते हैं लेकिन आपको स्वयं इसमें समय होना चाहिए कि आप स्वयं महसूस करेंगे कैसे ये आनंद है ये जगन्नाथ यात्रा कब निकाली आ रही है स्कोर बता दें आप एक्चुअली हाँ, सब क्वेश्चन आप मुझको देखे तो, तो कुछ प्रश्न पूछना चाहिए इस प्रेस वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा एक बहुत ही प्राचीन उत्सव है जो सदियों से भारत में मनाया जा रहा था उड़ीसा में खासकर पुरी में अभी श्री रघुपाद जी जो उनके के संस्थापक आचार्य हैं उनकी कृपा से दुनिया भर में ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मनाई जाने लग गई है जैसे अमेरिका में हो ऑस्ट्रेलिया लंदन में कई और जगह में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है इसका मकसद है लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान करना कृष्ण प्रेम सिखाना क्योंकि वामन पुराण में ऐसा उल्लेख है के जो भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भाग लेगा रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के रथ को खींचेगा प्रसाद लेगा या दर्शन करेगा उसके लिए पुनर्जन्म नहीं होगा बार बार ये जन्म होता है और इस वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है हमारा क्योंकि पचासवीं वर्ष का इस कॉल की 1966 में श्रीला प्रभुपाद जी इसकॉन के संस्थापक आचार्य भारत की पावन भूमि छोड़कर अमेरिका में गए थे और 1966 13 जुलाई जो कल था कल की तिथि जो थी उस दिन ही प्रभुपाद जी ने इसकॉन को न्यूयॉर्क में रजिस्टर किया और तब से लेकर ये आंदोलन विश्व भर में फैल गया है और दिन बर दिन संख्या बढ़ती जाती है भक्तों की बढ़ी जा रही है जैसे महाराज ने कहा ये आंदोलन आनंद देता है सुख देता है और आत्म का सेल्फ रियलाइजेशन हम कौन हैं हमारे जीवन का मकसद क्या है ये हमारे को सिखाता है और सबसे निवेदन करेंगे कि आप सब लोग आइए जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए प्रसाद ग्रहण कीजिए अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम है प्रवचन है विदेश विदेश से भक्त आए हैं उन सबका संग लीजिए और पूरे आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करिए